इबन बिशर और वकी दोनों ने मिसार से और उन्होंने मंसूर से उसी सनत के साथ हदीस बयान की इबन बिशर की रिवायत में है वो गौर करे कि उसमें से सेहत के करीब तर क्या है और वकी की रिवायत में है वो सही सूरत को याद करने की जस्तुजू करे सही मुस्लिम हदीस नंबर एक हजार दो सौ पचहत्तर